इंद्रजाल सदृशम स्वप्न के सदृश इंद्रजाल के सदृश ऐसा समझो स्वप्रिय सदृश है इंद्रजाल के सदृश है अचिंत्य रचनात्मक यह अचिंत्य रचनात्मक है यह सत्य है यह असत्य है उभयात्मक है उभय है ऐसा तुम चिंतन के बारे में कर नहीं सकते हो ऐसी दृष्ट नष्टम देखते देखते नष्ट जगत ऐसा जगत उपशन देखते हुए कथम तक आगजती कैसे कोई ज्ञान विवेकी पुरुष इसमें अनुराग कर सकेगा अर्थात नहीं करेगा ये दृष्टि सृष्टि बात सृष्टिवाद दृष्टन अस्तम जगत ये दृष्टि सृष्टि बात दृष्टि सृष्टि बात दो प्रसिद्ध है दृष्टि सृष्टिवाद सर्वोत्तम सारे तत्व प्रमुख रूप है ना दृष्टि दृष्टिवाद है और दृष्टि दृष्टिवाद को लेकर के चलते हैं तो दृष्टि दृष्टिवाद में दृष्टि दृष्टिवाद में क्या होता है दो ही सत्ता पाठवाद की सत्ता और आत्मा की सत्ता है दृष्टि दृष्टिवाद दृष्टि दृष्टिवाद में व्यवहार का मिट्टी में दिखा तो है नहीं तो नहीं है सारी लगा आप अमेरिका नहीं दिख रहा है तो नहीं है नहीं वो दृष्टि दृष्टिवाद उसको आपकी अपनी दृष्टि से जो आपके सामने अनुभव में आ रही है आपकी दृष्टि उसका और नाम से हाँ? छोटा नहीं तो यही सच्चा ही है आप टीवी में देख लेते हो तो अमेरिका है नक्शे तो। में पढ़ ले वो है शराब में है ज्ञान से अन्य ज्ञान के द्वारा अपात के ही रहता है कौन व्यावहारिक ब्रह्म ज्ञान ज्ञान वाचकम तत्वाचकम और ब्रह्म ज्ञान ज्ञान अवाचकम व्यावहारिकम को परम ज्ञानी को मुख्य में मध्यमाधिकारी प्रोग्राम कर रहा है उसके मन में क्या रहता है ये सारा जगत 家了 for the spiritually नाम रहित तो चिंतन करो あれ Gracias. that जो दुख का भोग कराने में ही कार्यक्रम अपना पूरा आग्रह करता है उन विषयों में सतत्व का आपार को नहीं करता एवं विभिन्न विषय प्रदर्शन इधर दोनों का विषय अलग है काम ही अलग है ये दिखाकर प्रयोग उसको प्रयोग में घटा विद्यारब्धे विरुद्धे न भिन्न विषय तदा जानत हिरा इंद्रजात विश्व में विख्यात सुनिश्चित विद्या और आरोप ने सार्थता ये दोनों के दोनों नर बेटे इनका परतर है विषयों में जो विद्या है और सार्थक है इन दोनों में वास्तव में कोई तो विरोध के विषय में सार्थक को भोग नहीं देगा ऐसा नहीं सोचना सार्थक का भोग देते भी रहेगा होने में get Africa. सारा काम